साधन और साध्य दोनों एक साधन और साध्य एक हो जाता है हम्म। न तपस्या न नहीं केवल टेंशन अरे वहाँ तक जाने का है तो सबको एक जगह भी जाने का है हम्म। जैसे लास्ट स्टेशन हम्म। इससे आगे कोई स्टेशन नहीं अक्रम जगह है आपकी अक्रम विधि वो हम्म। क्या है आपकी अक्रम विधि है वो क्या है उस गति स्वामी चिंतन करना मार्ग जो है वो धोरी मार्ग है हम्म। राजमार्ग है हम्म। वही सच्चा मार्ग है बोध का अक्रम इसका सच्चा मार्ग है अक्रम तो मार्ग है जब ये मार्ग ये मार्ग टूट जाता है और मार्ग नुकसानकारक हो जाता है जब डायवर्जन मार्ग टूटता होता है फिर वो मार्ग पूरा अच्छा हो जाएगा फिर डाइवर्जन बंद हो जाएगा सड़क पूरी बनने के बाद डाइवर्सन की जरूरत नहीं है वो डाइवर्जन मार्ग है खाली अक्रम એટલે ક્રમ નહીં ક્રમિક એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ક્રમિક માર્ગ હા. Step by step step by step step by step આગળ ચલે જાઓ મોક્ષ તરફ અને અક્રમ એટલે સ્ટેપ બાય स्टेप से लिफ्ट मार्ग ज्ञानी उसकी लिफ्ट में बैठ जाओ दूसरा कुछ करने का ही दूसरे ज्ञानी के लिप्त में बैठ कर कभी किसी ने ज्ञान पाया आज तक ठीक है साहब तो कहते हैं दूसरे ज्ञानी की लिस्ट में बैठ के कभी किसी ने ज्ञान पाया है आज तक हैं? બીજાની લિસ્ટમાં બેસીને આજ સુધી કોઈને જ્ઞાન થયું છે वो क्यों नहीं हुआ है वो भरत राजा को हुआ था ना भरत राजा को हुआ था वो अक्रम नहीं था वो धर्म नहीं था हाँ हाँ कहीं तो औरतों के साथ और लड़ाई लड़ने के साथ जो हुआ था ये घर- अक्रम था नहीं तो घर ऐसा नहीं होता है घर में इनका अक्रम ज्ञान ऐसे समझ लो कि असोचा केवली सारे अक्रम ज्ञान में और हाँ चाहे कर्म ऐसा नहीं होता है कर्म तो क्रमिक होना चाहिए और स्मृति से जुदा होना चाहिए स्मृति का अर्थात वो नहीं चलेगा कर्म क्या बोलता है कि नौवा गुणस्थान आगे नहीं जाता है स्त्री के साथ हम्म। गुणस्थान आगे नहीं जाता तो जो रास्ता बिल्कुल जुदा ही हो जाता है बिल्कुल जुदा प्रकृति से बिल्कुल जुदा दो प्रकार के केवली अहंकार अहंकार जहाँ इधर खराब हो जाता है जिधर कर्म बन जाता बंद हो जाता है कर्म भी बन जाता है वो इधर हंसते धंधा करते खाना खाता पीते धर्म कर्म नहीं होता एक एक एक अवतार का जाता है हमारी आज्ञा पास से रहता है पांच आज्ञा दिया है वो निरंतर पाता है चौबीस कलाक निरंतर ऐसा बीस हजार पाता है हाँ, क्या पाक आदमी गांधी साहब निरंतर चौबीस कलाक पाक आज्ञा हमारी पालता है तो कानून की जिम्मेदारी हमारे इनके लिए है इसमें क्या पांच आज्ञाएं पांच आज्ञाएं શું છે पांच आज्ञा क्या है वो ज्ञान ये आपकी हम बताएगा मगर જરૂર આપને હેલ્પ નહીં કરે આજ તું हम आज्ञा क्या बताता है हम दिव्य चक्र दे रहे हैं इसको क्या देता है दिव्य चक्र तो आपका खुद का आत्मा भी किसी दिखाने में आता है दर्शन में आता है और दूसरा का आत्मा भी दर्शन में आता है आसन कोई पर चीज जीवात्मा के साथ गदा देख सकते आपके अंदर सब के अंदर वो सब देख देख सकता है आपका हाँ। आपको भी देख सकता है आपका आत्मा हम्म। ये आंख से आपको देखता है हम्म। लोग जो हम ये आज्ञा देता है कि तुम्हारी कैसी देखने का हाँ। आज्ञा हाँ, ये प्रज्ञा का काम है इंट्यूशन का ये प्रज्ञा का काम है प्रज्ञा प्रज्ञा बुद्धि से आगे वो सबको प्रज्ञा ही हो गई हाँ जहाँ तक बुद्धि की सीमा में है तब तक तो ये आप काम करेंगे और बुद्धि की सीमा से परे प्रज्ञा की सीमा में चला जाता है ये आदमी को हमने बोला है कि एक चिंता था तो हमारे पास चिंता भी नहीं भूल तो कहती है समाधि निरंतर समाधि रहना चाहिए हाँ, हाँ, निरंतर समाधि हम्म। और औरत के साथ लड़के की साथ कोई भी कोई भी स्टेट में समाधि रहना चाहिए जब विज्ञान चौबीस चीज का विज्ञान मेरा विज्ञान नहीं है मैं तो उनका निमित्त हूँ विज्ञान हाँ। तो मेरा नहीं गौरी इस भगवान का मैं तो उसका निमित्त हूँ खाली वो सब लोग क्या बोलता है कि क्या अपना मार्ग दादा भगवान का चला है नहीं महावीर भगवान का शासन रखता है क्या रखता है महावीर भगवान का और हम इसका तलक है हाँ, हाँ। सर आपने ये कैसे प्रश्न आपने ये कैसे प्रश्न तो निमित्त कैसे बन गया तो निमित्त कैसे बन गया निमित्त कुछ नहीं हुआ एक जगह में बैठे बैठा हाँ। और चौहर करके बैठा मैं हाँ। साढ़े पाँच बजे उसका हाँ। दिन थे स्टेशन पे जेल में चौहर किया साढ़े पाँच बजे उतर गया छह बजे तो छह बजे बैठा वो चालू हो गया बाकड़ा में नहीं तो ये जो आपकी भाषा है ये जैसे सारी भाषा बाद में ही हुई या पहले भी आपकी ये संस्कार थी आपकी ये जो भाषा हुई ये बाद में हुई कि पहले आपको ये संस्कार थे या આજે ये सारी ભાષા- बीतराग की भाषा है વાણી कि જે समाज તમારી की भाषा जो નીકળી आप ગુજરાતની ભાષા જે નીકળી એ પહેલા હતા સંસ્કાર કે આજ પછી થયા पहला संस्कार था पर इगोइजम वाला संस्कार था वाणी ऐसी थी अच्छा तो इगोइजम पॉइजनस हाँ ईगो के साथ था पॉइजनस बिल्कुल क्या करने का उसका फिर टूट जाता है था आता जाकर तो घर नहीं करता है अभी विवेचन से घड़ा हो गया वो भी वो भी विनाश हो गया वो भी हो गया ममता भी खराब हो गई सब दुनिया कैसी चल रही है वो भी देखा भगवान कौन है देखा किसने बनाया है कैसे चलता है किस घर से चलता है रॉन्ग वे क्या है राइट वे क्या है सब देखा और सब दुनिया कैसी घूम रही है तो रॉन्ग बिलीफ से घूम रही है सभी रॉन्ग बिलीफ है हाँ तो, कोई भी जात की बिलीफ रॉन्ग ही है तो ये महावीर की भाषा तब प्रगति है हाँ। ये महावीर की भाषा तब प्रगटी એ વખતે મહાવીરની ભાષા પ્રગટ થઈ बस ये- ये- वही clear है बस। ये हम क्या पूछता है ये क्या क्या नाम से करता है જેઠાભાઈ जेठा भाई खरेखर जेठा भाई છો ભાઈ कैसे हैं सब તમારું નામ જેઠાભાઈ તમે જેઠાભાઈ છો શરીર ને લોકો જેઠાભાઈ કે છે તમે તમે બતાવી પડ્યા છો એક સાધુ છે તમને રોંગ બિલીફ તમે જે છો એ જાણતા નથી અને નથી કરવો આરોપ કરો છો that is first wrong belief અને પછી અમારે તો ઘડી તો બીજી રોંગ બિલીફ હું જઈ ત્રીજી રોંગ બિલીફ હું પચાસ હું ગોળો છું પાંચથી હું મામો છું ભૂવો છું કેટલી wrong belief હો બેઠી ये છે. नामकरण की सारी प्रकृतियां ही आरोपित है तो ये नामकरण की सारी प्रकृति नाम कर्म आरोप- नहीं कर्म नहीं कर्म नहीं नाम कर्म नहीं अरे कर्म, कर्म नाम कर्म। हाँ એટલે નામ કર્મ की सारी प्रकृतियां आरोपी थी है बस, तो फिर ये- ये वो wrong belief तत्व है है। वो wrong belief ज्ञानी पुरुष क्या करता है रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर कर देता है और राइट बिलीफ बैठा दे रहा है राइट बिलीफ लाइफ में जिसको समय दर्शन होता है वो कहता था आप ये है ये नहीं है आप ये है यही तो वेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना यही वेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना अपम्मा जानी पासी अपम्मा जानी पासी अकर्म जानता है देखता है ये दुनिया में कोई आदमी माँ खाने को पसंद करता है कोई पसंद नहीं करता कोई आदमी नहीं पसंद है नहीं हमारे यहाँ बीस हजार आदमी माँ खाने से समाधि होती है ज्यादा समाधि समाधि में रहता है मगर माँ खाने से ज्यादा समाधि कैसे कैसे मार खाते हैं कैसे मार खाते हैं क्या है કેવી વિધિ છે માર ખાવાની એક એક એક એક તમારી છે, પણ મોક્ષ છે, આત્મા મોક્ષ લઈને ફરે છે આપણા. હા, હા, એ તો છે. ये भी प्रयोग है આ ભગવાન સિવાય શિક્ષક મોક્ષ છે અને મોક્ષ મળ્યા પછી શું ઉપાય છે કોઈ તમે ઉપાય નહીં तुमको क्या लगा है क्या लगा तुमको वो सब गमचारी है तुम्हारा, सब गमचारी है। नहीं, મને नहीं, क्या काय- लगा એ तुमको પૂછે છે તમને नहीं तुमको नहीं क्या तुमको नहीं उनसे पूछ रहा हाँ એમને પૂછે છે કે तुमको क्या लगा है जब अभी मार खाई क्या लगा तुमको વાતચીત કરે સાહેબ જોડે. વાતચીત કરે हैं? શું વાત કરે हैं? बताओ बोलो હા क्या लगा એમાં સૌથી મોટા પેલું બોલવું પડે એમને કાયદો છે हाँ हाँ કારણ कौन કે મોટો છે हाँ हाँ कौन बड़े વાતચીત કરે સાહેબ જોડે. क्या लगा तुमको? તું તો પાંચ આજ્ઞામાં રહું છું કેટલો વખત રહું છું નિરંતર નિરંતર તને ચિંતા ચિંતા કશું જ નહીં અને મારે તો કશું જ નહીં હા સંસારમાં રહું છું ને नहीं कष्ट तो हुआ નહીં કષ્ટ નહીં हुआ नहीं दो बात है देखो एक तो कष्ट होता है और हम सब भाव से सहन करते हैं एक तो कष्ट होता है उसको सब भाव से सह लेते हैं और एक कष्ट का संवेदन नहीं होता दोनों में क्या स्थिति बनती है बताओ दो बातें अलग अलग एक तो कष्ट का संवेदन तो होता है पर बिल्कुल समभाव में रह जाते एक कष्ट का संवेदन भी नहीं होता क्या स्थिति बनती संभव रहता है नहीं ये को कुछ नहीं लगता कष्ट का तो अनुभव होता है पर संभाव रख लेते एक तो यह स्थिति दूसरी है कि ऐसी स्थिति में आदमी चला जाता है कि जहाँ संवेदन ही समाप्त हो जाता है क्या स्थिति बनती સંવેદન થાય પણ એમાં પોતે સંભાવ માં રહે અને બીજું બીજી સ્થિતિ એવી કે જેમાં સંવેદન જ ના થાય તો કે તને શું રહે તેને તો મને સંભાવ રહેશે એને એવું કહ્યું કે મને સંભાવ રહે એટલે અમે કહ્યું બીજી સ્થિતિ એવી છે કે એમાં કચ્છ ની સંવેદન જ ના થાય સંભાવ રાખવાની જરૂર ના રહે એવું સંવેદન જ ના થાય સંવેદન જ રહેશે हाँ हाँ हाँ आपने क्या कहा मैं सुन नहीं सका हाँ नहीं आप આપ શું કહેતા આ- આ એમ नहीं कष्ट का संवेदन और इस बारे में आप क्या कह रहे थे કષ્ટનું સંવેદન એમ આપ એના વાત- આપ એના માટે કંઈ કહ્યું ને આપણે એમને સ્વ- સ્વસંવેદન રહે છે કઈ બોલ્યો નહીં સંભાવ છે हाँ हमें को एम कहता है नहीं आज बताइए ये आप स्पष्ट नहीं कर सकते સ્વસંવેદન રહે હા. શબ્દો એટલે ના આવડે આ લોકો હા, ઠીક છે, કોઈ વાત નહીં. ના આવડે બિચારા આ તો હજુ હે આ તો નથી આવડતું ठीक है कोई बा- खास बात नहीं आप कहिए આ તો જ્ઞાની પુરુષ ના ખોરા બેઠા એટલે ભગવાન થઈ જાય લે हाँ आप कहिए आप ક્યાંથી આવડે પણ પોતે અનુભવ થી વર્તે नहीं आप कहिए आप क्या कहें તમે કહો કે છે તમે કહો એમ કે કે શું રહે એમ कि- એ સંવેદન વિશે આપ કહો એમ કે છે. नहीं कष्ट का संवेदन नहीं होता या कष्ट में संभाव रहता है બે વસ્તુ કહી અમે એક તો કષ્ટનું કષ્ટનું સંવેદન થાય કષ્ટનું સંવેદન થાય પણ એમાં સંભાવ રહે એ એક વાત અને એનાથી આગળની સ્ટેજ કષ્ટનું સંવેદન જ ના થાય કૃષ્ણનું સંવેદન જ નહીં આમ બસ સર. એક પણ વીસ હજાર માં એક પણ માણસ ને કૃષ્ણ નું સંવેદન જ ન થાય संवेदन हाँ। तो नहीं पर जैसे कांटा चूहा अब कांटा चुभता है तो दर्द होता है तो क्या है जो हमको ज्ञान देते हैं ना हाँ। तो आपने जो कहा ना कि दोष हाँ। परिस्थिति होती है पर एक परिणाम में कष्ट होता है लेकिन उसके प्रति संभाव यानी उसके प्रति उसका उसका एक हथियार है एडजस्टमेंट रहा बीच में और दादाजी जो ज्ञान देते हैं उसके बाद जो हम हमारी स्थिति रहती है तो उसमें ये सब कोई में का मीडियम ही नहीं है डायरेक्ट हाँ। ये अनुभूति रहती है कि जिसको कष्ट होता है हाँ। वो ये एक स्वरूप दिखाता है हाँ। और खुद ज्ञाता पद में रहता है यानी वो दोनों के बीच में अहंकार नहीं है अहंकार रहा तो उसको संभाव रखना पड़ता है लेकिन यहाँ तो सीधा वो गे है और खुद ज्ञाता है संवेदन तो नहीं होता अहंकार की बात जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है अब ऑपरेशन करता है तो दर्दी को दर्द तो होता है पीड़ा तो होती है पर कुछ लोग ऐसे हैं कि ध्यान में चले जाते हैं और उसे समभाव से खेल देते और अनस्थेसिया का प्रयोग कर दिया तो संवेदन भी नहीं दो स्थितियां बनती हमारी चेतना की हो गई तो एक तो वह स्थिति बन जाए कि जिसमें अनस्थेसिया की तरह ऐसी स्थिति के संवेदन शून्यता आ जाए जहाँ संवेदन ही नहीं आपका जो कहने का मतलब ये है कि बॉडी हाँ। को भी इफेक्ट न हो हाँ हाँ नहीं वो फिर वो जो फिर बॉडी नहीं हाँ। शरीर में जो अनुभूति हो कभी कुछ लग रहा कुछ हाँ। लग रहा पर ज्ञान हाँ। नहीं ज्ञान नहीं ज्ञान तो पूरा होगा ज्ञान में तो पूरा आएगा लेकिन उसकी असर खुद को नहीं होगी जो जिसको होता है वो खुद नहीं है वो स्वरूप मेरा नहीं है और जो और खुद का स्वरूप जो है वो दोनों अलग विभाग के विज्ञान तो ठीक है वेद विज्ञान विज्ञान से ही अलग रहता है हाँ भेद विज्ञान से तो अलग रह सकता है हम्म। पर मैं समझता हूँ इसमें संभाव ही प्रधान होता है संभाव जो आप कहते हैं ना हाँ। उससे भी आगे की स्थिति तो ये अभ्यास कराया जाता है कुछ दिनों नहीं नहीं, वो जो तो- ज्ञान देते एक घंटे का प्रयोग है एक घंटे तो एक घंटे तक लगातार ऐसे चोट देते हैं नहीं नहीं नहीं वो जो ज्ञान विधि देते हैं ज्ञान हाँ। वेद विज्ञान देते हैं हाँ। उस वक्त ये खुद तुम्हारा खुद का स्वरूप क्या है हाँ। और ये बाकी का जो अनात्म विभाग है हम्म। उसका हर एक परमाणु परमाणु किस तरह अलग है वो अलग बता देते આ જ્ઞાન વિધિ શું છે એ પૂછે. જ્ઞાન વિધિ શું છે પૂછે આ જ્ઞાન વિધિ શું છે એ પૂછે છે પૂછે જ્ઞાન વિશે તો સેપરેશન हाँ हाँ ઉજ્જવલ અને આત્માનું ચેતન શુદ્ધ ચેતન એ તો સિદ્ધાંત ઠીક છે ઉદ્ગલ તેનું સેપરેશન કેવી રીતે આપો આ કેવી રીતે આપો છો આપ એની હતું જ નથી બેસાડી અને આ જેમ તેમ બોલવાની જરૂર છે આપ થોડા પ્રયોગ કરીને દેખાડશો થોડા પ્રયોગ કરીને બતાવશો એ તો તમે આપ એ પ્રયોગશાળામાં આવશે બધા પ્રયોગ કરી નાખીશું આપણે नहीं नहीं कोई आपके जैसे आपको कराया है कैसे कराया नहीं, वो लेबोरेटरी में आएगा तब ये प्रयोग होगा इधर लेबोरेटरी नहीं होगा એનું ટાઈમ હોય टाइम ટાઈમ लगती है ना नहीं, समय अभी अभी नहीं, अभी प्रयोग नहीं खोज करो। नहीं नहीं अभी प्रयोग की नहीं प्रयोग कैसे कराते हैं बच्चे એટલે की શું તમારે એને મારા સાહેબ કે જે પ્રયોગ કરે છે ને જ્ઞાનથી વિધિ હોતી है આપના આ બધા શિષ્યો છે એમાંથી બે જણ મારી પાસે મોકલો हाँ કે ભાઈ તમે આ પ્રયોગ કરીને જ પાછા આવજો તો પ્રયોગ કરી આપો પછી એમને તમને અહીં આગળ સ્વસંવેદનનું જ્ઞાન વધશે તમને પોતે કહે છે કે આ પ્રમાણે થયું हम्म, એક્સેન્સ પોતાનું ये અને अड़तालीस તો मिनट લાઈટ का નથી. प्रयोग है લાઈટ માંથી લાઈટ થાય બાકી લાઈટ વગર લાઈટ ન થાય એક લાઈટ માંથી બીજી લાઈટ થાય નહીં વગર બધામાં એની મેળે લાઈટ નહીં થાય લિમિટ જોઈશે લિમિટ मैं ये पूछ सकता हूँ मैं जैसे आपने किया होगा हैं? आपने किया आपने तो एक बार के प्रयोग के बाद आपकी क्या स्थिति बनी हाँ, एक ही बार करते हैं एक घंटा हाँ, नहीं तो जैसा हमने देखा उस पत्रिका में राजेश श्याम जी लाए थे उसमें वह देखा तो उसमें वह था भी जो यहाँ जो हाँ, अंगूठे वो तो समर्पण विधि है वह यह नहीं अच्छा वो ज्ञान विधि नहीं है अच्छा, अच्छा। वो समर्पण विधि है ज्ञान अच्छा, स्पेशल दिवस में हाँ। दादा जी अपना ज्ञान का जो सेपरेशन करने का है हाँ। स्पेशल दिन में ऐसा करते हैं स्पेशल समय पे एक साथ में आपने जो बताया ना वो ज्ञान के पहले समर्पण विधि करते हैं उस वक्त होता है कैंडिडेट को बीस करना पड़ता है और अपना सब भी मन वचन काया सब कर्म सब उनके ज्ञानी के चरण में अर्पण करते हैं हाँ। और अपने पास सिर्फ अपना केवल शुद्ध आत्मा रहता है हाँ। और फिर दादा जी ज्ञान बताते हैं हाँ। यानी बोलते हैं हमें सिर्फ रिपीट करना रहता है वो जो जो भी कुछ बोलते हैं केवल बोलते जाते हैं हाँ सिर्फ स्वयं निकलती है एक एक बार एक एक ये देह के पुद्गल का एक एक परमाणु क्या किस तरह अलग है हमसे हाँ। वो सब विवरण करके बताते हैं हम्म। और वो वो शब्द वो ज्ञान नहीं है हाँ। लेकिन हमारे में जो प्रकट होता है वो ज्ञान है हाँ। और वो जो प्रकट होता है उसकी महत्वता ज्यादा है तो मतलब पहले समर्पण विधि फिर ज्ञान विधि दोनों क्रम चलते दोनों अलग नहीं होता पहले समर्पण और फिर ज्ञान हम्म। समर्पण यानी क्या है कि हमारे सब कर्मों का समर्पण है हाँ, और आत्मा तो अपने पास रहता ही है उसका बस तो और वो कहाँ समर्पण- जाता है? वो ले ले वो समर्पण यानी वो कुछ ले भी नहीं लेते हे हैं। તત્વને હે જ- હે કરીએ છીએ હે તત્વને હે કરીએ છીએ ઉપાધિ ઉપાધે ને ઉપાધે હમ, जो ઉપાધિ ज्ञान- એના તત્વ ઉપાધિ થઈ જાય છે હે હે થઈ જાય છે પુણ્ય પાપ હે થઈ જાય છે અને જે અનંત અવતારનો ભરેલો પુણ્ય પાપ નો દરિયો છે ઉપાધિ એ कुछ है ही नहीं જ્ઞાનાગ્નિથી જ્ઞાનાગ્નિથી ભસ્મ થઈ જાય છે नहीं है मिल जाता है उपाधि कुछ है ही नहीं हमारे लिए उपाधि तो भीतर ही है। એમ કે જે હે મટી જાય પછી ઉપાદેય કશું રહેતું નથી ઉપાદેય તો આપણી અંદર જ છે उपाधि कुछ है ही नहीं लेना कुछ नहीं है कुछ नहीं ઉપાદાન પોતે જ છે होते ही थे। ફક્ત નિમિત્ત છેલ્લાનું છેલ્લું નિમિત્ત देखा હોય है તો ઉપાદાન प्रयोग, बात मैं नहीं देखे अभी किया था वे શું કહે છે? मैं इनको बता रहे हैं कि मैं जो प्रयोग किया था अभी कष्ट सहन का नहीं देखा ये बात ये है। हाँ अभी बात है શું કહે છે? તો પેલો માર્યું ને તે ઘડીએ બેન આ તમે લોકો હતા કે ના અમે નતા પેલો માર્યું ને બૂટ માર્યો ને એ વખતે આ લોકો તમે જોયું એમ પૂછે છે તો કે ના અમે નતા હતા ને તીકડે? हाँ ના આ આ લોકો પછી આવ્યા. આ લોકો પછી આવ્યા આ બધા પછી આવ્યા હતા સમજવાનું છે એ લોકો તૈયાર તૈયાર થાય છે ને બહાર પરદેશ જવાના માટે તૈયારી થાય બધી એમને એટલું ટ્રેનિંગ મળે છે બધી સમજાય એક એક આવે શરમી mm-hmm. इसे क्या देख लेगा नहीं इसके भीतर है देखने का तो लोग मार के भागते हैं या लोग आते हैं लोग मार की भागी जा रही है मार खावा मार खावा मार खाने हमको बात बोलता है हमारा हाथ दुखता है ये उल्टी बात है ना अपने कहते हैं कि संसार से अपूठा ने मोक्ष से थामा हाँ बताओ એ કે છે આ આ જુદી જ વાત છે ને સંસાર થી અપૂઠા અને મોક્ષ ની આગે वो तीर्थंकर की बात है मेरी बात कुछ नहीं हाँ, है हाँ। मैं इसमें निमित्त हूँ खाली हमको लोग राधा भगवान बोलता है, मैं ना बोलता हूँ मैं राधा भगवान हूँ मैं ज्ञानी बोलता हूँ आप दुनिया में कोई भी शास्त्र की कोई भी बात आप पूछो तो इसका जवाब करो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो किसी वेदांत हो कि जैनिज्म हो चार अनियोग हो ये चाहे विधान कोई भी मुस्लिम हो तो अमेरिका में सब ये लोग भी मिलता था राइस का हम्म, सब सब तो आत्मा का आनंद ज्ञानी है फिर ये नहीं होता वेदांत का दर्शन का अमेरिका का और हिंदुस्तान का और ये वे ये लोग है नहीं चिंता क्यों नहीं होती ये भविष्य को अंदर देखने की कोई जरूरत नहीं वो तो वर्तमान में रहता है ठीक है हम्म। भविष्य में कभी नहीं गया पर में भी गया नहीं भविष्य में गया नहीं वर्तमान अभी इधर है इधर ही घर को नहीं और घर को जाएगा इधर ये बिल्कुल ठीक बात है तो वर्तमान वर्तमान में रहता है बिल्कुल वर्तमान में रहना ही प्रेक्षा है वास्तव में अतीत और भविष्य से कटकर केवल वर्तमान में जीना इसमें हम्म। समझ कोई आई आपको आनंद हुआ खराबी लग गया नहीं यह प्रयोग है कि वे भीतर में आत्मानुभूति में रहे हम भक्षक नहीं है रक्षक है हाँ ऐसा भक्षक की बात किया करता है <laughs> भीतर में रक्षक बाहर में भक्षक हाँ, ऐसा ही है व्यवहार में तो ऐसा लगता है कि आप चोट कर रहे हैं <laughs> जैसे अपने कहते हैं कि जो गुरु होता है गुरु होता है वह कुम्हार की तरह होता है तो कुम्हार घड़ा बनाता है बाहर से तोड़ देता है भीतर में सुरक्षा करता है કે જે એવું કહેવાય છે કે ગુરુ જે છે એ કુંભાર જેવા હોય એટલે બહારથી ટીપે પણ અંદરથી એને અંદર રક્ષણ રાખે આપે. અંદર. हाथ रखता है अंदर हाँ ભોગવવું ના પડે, ભોગવવું ના પડે. ભોગવવું. तभी तो कुंभार कुंभार आकार कुंभार तभी तो आकार में आता है कुंभार तभी कलाकार घड़ा बनता है कुंभार कलाकार कहेवाय અંદર રાખી પછી ઉભો થાય. तभी घड़ा बनता है तभी घड़ा बनता है ત્યારે જ ઘડો બને કે છે હે? ત્યારે જ ઘડો બને આકાર થાય ત્યારે જ ઘડો બને એ બધા સબ એટલે કહે તો કઈ ગયો તો ભરત અહીંયા આવી अब जाओ भरत भैया ये भरत भाई है यहाँ ब्रह्मचारी है हाँ। तो दादा के साथ रहते हैं दादा की सेवा करते हैं और सब चीज का अनुभव किया हुआ अच्छा वो इंजीनियर था हाँ। पंद्रह सौ रुपया पगार मिलता था हाँ। उसको हमको एक तरह मिला फिर इनका भाषा को बोल दिया हम हमारी सर्विस दे रही है हम कराते के पास रहेंगे हम्म। मैंने बोला कि इधर क्या कुछ काम है हमको कुछ काम नहीं कर बोले बोलेगा आप बाहर बिठा दो इधर भी बिठा दो आपकी नदी में बिठा दो कभी सर्विस हम्म। करो कुछ करो और लग्न करो बाहर से लगने को मंगता है नहीं हम्म। तो ब्रह्मचारी कैसे रहेगा भाई ब्रह्मचर्य रहना है पहली बात नहीं हम्म। तो आपसे चुका करो तो हमको ब्रह्मचर्य कि ब्रह्मचर्य के लिए तो हमने किया हम्म। फिर इनको एक बुद्धि की इतना भी बुद्धि नहीं है और इनको ये मानता था कि हमने सब सब मूर्ख दिए वो हम्म। ऐसा मानता क्या मानता था सबको मूर्ख अपने को मूर्ख है इनका फादर मतलब सबकी बातें मूर्ख में आप नहीं देखो तो मैं तो बुद्धि के खतरों को जानता हूँ ये कहते हैं वो मैं बुद्धि के खतरों को जानता हूँ दोनों दोनों दोनों जीवन मैंने जिए बुद्धि का साहित्य का जीवन भी बहुत जिया है अब मैं दूसरा जीवन भी जी रहा हूँ दोनों को जानता हूँ ये दोनों जीवन मैंने जिए है हाँ। बुद्धि के साहित्य का जीवन भी मैंने जाना है और ये भी आपके साथ भी अनुभव आपको बराबर अनुभव पूरा हुआ है नहीं तो इतनी बात हमारे साथ किसी वो सब आचार्य लोग नहीं कर सकता है तो अनुभव होना चाहिए अपने को खुद का अनुभव होने से बात कर सकता है मैं ये मानता हूँ कि शायद मैंने पढ़ा बहुत कम लोग जीवन में पढ़ते हूँ हाँ। जितने विषय पढ़े ये भी मानता हूँ और प्रज्ञा का मूल्य उससे कितना ज्यादा है उसका मुझे अनुभव फिर एक दफे हमको रहता बोला हाँ दादा आप सबका क्यों करता है हाँ। मैंने समझ गया कि यह अभी का मदद कैसा है <laughs> मेरे को पत्थर बड़े इतना हर रख नहीं मैं उनका क्या हो जाएगा हाँ। मेरे को तुम गाड़ी दो मेरे को है कभी मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा इसलिए हमको तकलीफ है हाँ। हमारा हमको हमारे लिए तकलीफ है तुम्हारे फर्क नहीं पड़ेगा तो मैंने बोल दिया कि तुम बोलते हैं कि दादा आप पक्षपात करते हो हाँ। अरे मैंने बोल दिया कि तुम्हारे जो इधर रहने का हो तो तुम्हारी तुम्हारी सब लॉ बुक है फेंक दो एक लॉ बता नहीं है हम्म। तीन महीने के बाद लोग उठना किए फिर बुद्धि की बात बोलिया कि एक सेंट भी बुद्धि तुम्हारी बात औसारिक नहीं है धार्मिक तो नहीं है आध्यात्मिक तो नहीं है पर संसारिक भी नहीं है हाँ। तो इसको फेंक दो तो फिर जब भी मेरे साथ बल्ला किया हम्म। बल्ला किया हाँ। ऐसा आदमी सच्चा होता है सच्चा और बल्ला को होता है हाँ। हम समझ गए बिल्कुल सत्या आदि ऐसा आप भी नहीं मिलेगा जिसको हम्म। तो पैसे की मंगता नहीं कोई मंगता ममता हाँ। की ममता नहीं पैसे की ममता नहीं सत्या आदि कहाँ मिलेगा बलवा हम मैंने बता दिया तुम कुछ भी नहीं है हाँ। जीरो फिर इनकी भीड़ जीरो हो गई जब इसकी आबादी बलवा समाप्त हो गया आबादी शुरू हो गई इसके बाद जीरो हो गई એટલે ये सब क्या बोलता है हम्म, कि भाई नहीं आएगा जय जय ये और इनका फादर हाँ दोनों हाथों बॉक्सिंग करते लड़ते जरूरत हाँ मैंने बोल दिया कि क्या चीज है तो वही क्या बताता है कि मेरा फादर का दोस्त था फादर बड़ा आदमी है साठ पासठ आदत का वो बोलता है कि लड़का था सब दोष इसका वो इतना इतना अवतार की ये एक आठ हो गई है गंती पड़ गई तो फिर हमको बोल दिया क्या पूछ करके एक गंती निकाल दो तो हमने बोल दिया तुम आस्ते आस्ते निकालो हम कैसी करेगा ये दोनों बोलने लगा था तो हमने एक घंटे में गंती सब तोड़ दिया हम्म। फिर ये दोनों को कुछ नहीं बताया हम्म। ज्ञानी पुरुष के पास इनकी इनकी बीच में इतना इतना बल रहता है कि सब कुछ हो जाता है वचन बल होता है वचन बल हम्म, हम्म। मनोबल वचन बल काय बल तीनों होते हैं हमारे काय बल तो नहीं है पर मनोबल वचन बल ये ब्रह्मांड की ताकत की बरबर है नहीं काय बल से मतलब चर्बी वाला काय बल ये चर्बी वालों का काय बल नहीं होता काय बल होता है कि जिसके हर खेल में प्राण शक्ति सक्रिय हो जाती है हाँ, तो अभी अभी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो सबको ये हाँ। सबका इसको सबको आनंद है अच्छा राधे श्याम जी आगे देरी हाँ। से पहुंचे विष्णु भाई आ विष्णु भाई भी आ हाँ, अच्छा आगे इधर इधर हाँ इधर विष्णु पाठक हाँ विष्णु पाठक हम छोटा छोटी पूरा आपका परिवार आ गया बस थोड़ा बहुत आज बहुत अरे कम पूरे है से मतलब यह नहीं हाँ संख्या में मत ठीक है गुणात्मक लोग हाँ क्वालिटी ક્વોલિટી કે બધા આપણો પરિવાર આવી ગયો છે એમ કે છે क्वालिटी मेरा कोई नहीं मैं उनका हूँ मेरा कोई आप इनके एक ही बात से तभी तो परिवार बन कोई चीज मेरी नहीं है अभी कोई ले ले हाँ। तो हरकत नहीं नहीं ले ले तो भी हरकत नहीं सब कपड़ा कपड़ा ले ले कोई हरकत नहीं नहीं ले ले तो भी हरकत नहीं मेरी कुछ चीज नहीं मैं हम उनका निरंतर जाने को भी लेबोरेटरी रखनी पड़ती है ये आश्चर्य हाँ, को निरंतर लेबोरेटरी में ये कराना पड़ता है हाँ। ये आश्चर्य लगता है नहीं नहीं निरंतर ज्ञानी है इसको लेबोरेटरी વાત કરી ને અહિયાં લેબોરેટરી કે પ્રયોગ એ જાણીને આશ્ચર્ય જોયું તો પ્રયોગ તમે કહ્યું ને લેબોરેટરી માં થશે અહિયાં નહીં થાય એ જાણીને આશ્ચર્ય થાય આશ્ચર્ય નહીં લેબોરેટરી છે तुझे का असर થયા બાદ આપ ખાના નહીં ખોજા ખાયગા નહીં ખાएगा पहला खाता है ऐसी खुद नियम होता है नियम हाँ। देश और काल का भी योग होता है ठीक है देश और काल देश और काल का भी योग होता है हाँ, नियम तो होना चाहिए कुछ नियम बिना नहीं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों निमित्त होनी चाहिए अभी कोई आदमी इधर सो जाए कितना खाना दिखाता है और रात के नहीं सो जाए तो भी खराब दिखाता है <laughs> ऐसा कुछ नियम होना चाहिए आपको देखने का आपका आशीर्वाद चाहिए हमको नहीं ये सबको ये ठीक है ठीक है जैसे दर्शनावरणीय कर्म निरंतर उदय में रहता है पर नींद का निमित्त रात को बनता है ज्यादा બરાબર છે જેમ દર્શનાવરણ નું કર્મ નિરંતર હોય જ પણ રાત્રે એનો વિશેષ હોય हाँ, प्रभाव निमित्त પ્રભાવ रात को એનો बनता વધારે है હોય. इसीलिए हर बात को द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस चतुष्टी के साथ ही हो सके शायद कोई भी कार्य होने के पहले उसकी टाइमिंग हाँ, हाँ, हाँ, तैयारी तो जाना है मेरी बात आपको का कोई प्रश्न नहीं है आपको संतोष नहीं हुआ है मेरी बात नहीं हुआ है नहीं हुआ नहीं हुआ नदी दो તો हैं? સંતોષ નથી થયો. टाइमिंग चाहिए स्पेस भी चाहिए क्षेत्र काल टाइमिंग स्पेस बीजा कितना साइंटिफिक सेटअप से एविडेंस पूरा થાય तो फिर कार्य होता है नहीं तो कार्य नहीं होता है अपना अपनी खुद की मर्जी से कार्य नहीं होता है वो टाइमिंग सब सरकम से एविडेंस जगह हो जाता है सब कार्य होता है सिद्ध शिला सिद्ध शिला में जाकर बैठता है तत्काल केवल ज्ञान होने की सुविधा हो जाती है अगर स्थान नहीं मिलता है तो नहीं होती लंबा समय लग जाता है એટલે કે સિદ્ધ શિલામાં સ- જવાના સ્થાનનું એ એ ના થાય ને ટાઈમિંગ ના મળે તો કે છે કે કેવળ જ્ઞાન થયા પછી લંબાય છે કામ नहीं नहीं सिद्ध शिला एक हमारे यहाँ मनुष्य लोग हैं। મનુષ્ય લોકો. हाँ, उसमें जाने वाले को केवल ज्ञान की बहुत जल्दी सुविधा हो जाती वो अन्नाड़ी देश में चले गए ના એ કે છે સિદ્ધ શિલા જે આપણા પૃથ્વી પર સ્થાન છે ત્યાં જાય તો એને કેવળ જ્ઞાન થવાની સુવિધા વધારે થઈ જાય છે હા ભાઈ क्षेत्र का प्रभाव ક્ષેત્રનો પ્રભાવ ક્ષેત્રનો क्षेत्र का प्रभाव काल का प्रभाव वृद्धि का प्रभाव भगवान को भी आर्य देश में से अनादि देश में बिहार करके अनार्य देश में जाना पड़ता था हाँ। पड़ा था अनार्य देश में जाना पड़ता था ऐसे कुछ न कुछ होना चाहिए आपको संतोष नहीं हुआ हमारे साथ। कभी संतोष हो जाएगा तो तो नहीं ऐसे नहीं संतोष कह रहा है संतोष हाँ। हमको तो आपके लिए संतोष है मैं ऐसे कह रहा था कि जो जैसे इतरा भगवान है हाँ बोलो महावीर से तो उनको जब जो प्रश्न का उत्तर देना था जो विधि देने थी तो उसके लिए कोई अलग ऐसे देश क्षेत्र काल विधि तो जैसे होगा होगा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका विशेष सामर्थ्य होता है जब हम शक्ति को अपने मानते हैं तो उस क्षेत्र को भी खेल चला सकते हैं उसे समय को भी उसे पैदा कर सकते हैं वो એમ કે છે કે ભગવાન મહાવીર વિતરાગ હતા એ એમને છે તો આવું જો હોય કે જે ટાઈમે જે ક્ષેત્રે થાય ત્યારે કરે તો પછી એનું સામર્થ્ય આવા પુરુષોનું કઈક સામર્થ્ય હોય કે જે ક્ષેત્રને ખેંચી લાવે કાળને ખેંચી લાવે नहीं वो महावीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं था नॉट अ सामर्थ्य ये नहीं होता हमको भी सामर्थ्य नहीं दिखू नहीं होता ही नहीं है देखो साहब हमको भी सामर्थ्य नहीं हाँ, हाँ। हम तो आपने पोता खुद का खुद का पोता पाया नहीं है हम पोटले ले जाता है तो हमको हमको ले जाता है हाँ, अच्छा। नमो वितरागाय अभी हाँ <laughs> साहब के संतोष करने के लिए हमारे क्या बोलने की जरूरत है नहीं, संतोष नहीं है। नहीं संतोष हो गया मैंने कह दिया ना आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ हाँ, हाँ। इसलिए संतोष है। એટલે <laughs> તમારી વાતનું એમને સમર્થન કરું છું એટલે સંતોષ છે हाँ नहीं ये बिल्कुल ठीक बात है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को खींचना आपने किसी एक के बस की महावीर बात का ही नहीं। सभी है आपने हाँ, महावीर का है। महावीर का आपने बिल्कुल दूसरा ठीक। है। અહંકારી કથા हाँ। पर केवल ज्ञान का आराधक ही है अगर केवल ऐसा- दर्शन केवल ज्ञान अगर का- ऐसा होता और कटाई का अभाव करने के लिए सब देखा हो गया है नहीं अगर ऐसा होता तो महावीर सबसे पहले गौतम को केवली बनाकर ही जाते पर बने बाद में એવું જો હોત તો મહાવીર ગૌતમ ને સૌથી પહેલા કેવડી બનાવી જાત પણ આ તો પછી થયા हाँ पति है क्योंकि प्रशस्त राग था इनके हाँ प्रशस्त राग बहुत और ये सबको भी हमारी हमारी हाँ, हमारे साथ सब प्रशस्त राग है सबको तो मैंने बोल दिया भले रहने दो वो प्रशस्त हाँ राग क्या कम से काम कम करता है प्रशस्त तो मत करो प्रशस्त राग क्या काम करता है संस्कार संसार का राग टूट जाता है और प्रशस्त बैठ जाता है इसलिए सबका प्रशस्त राग मेरे पर है बस दूसरा कुछ नहीं। गौतम का महावीर के प्रति प्रशस्त राग था ठीक है ठीक है। ગૌતમ का महावीर के प्रति प्रशस्त प्रशस्त राग प्रशस्त हाँ राग। और बहुत छोड़ दिया उन्होंने पर जब तक महावीर रहे नहीं छोड़ सके हाँ महावीर गए समाप्त हो गया और ये लोग का बिजनेस क्या है अभी हम्म, हम्म। उनकी समाधि हो गई चिंता मट गई और नहीं बड़ा अच्छा है नहीं दो जितने अवसर में मोक्ष मिलने वाला ये भी चौकस हो गया हाँ। मगर अभी हाँ काम धंधा क्या है इसका बिजनेस क्या हाँ। तो इनका बिजनेस क्या है कि सबको जो सुख हमको मिला है ये सुख सबको मिलो ऐसा ही बिजनेस है दूसरा भी कोई बिजनेस नहीं और हिंदुस्तान में और जो जिधर पुण्य धर्म समझता है हाँ, हाँ। वहाँ वितराग का धर्म खुला हो जाओ समझता है अच्छा उद्देश्य है अच्छा क्रम है यथार्थ हमें तो इसीलिए प्रसन्नता हुई इधर गच्छ है यहाँ विकराग नहीं है वो बोलता है गच्छ वाला साधु हमारे पास मैंने एक बोलता है की तुम्हारा सब कुछ तुमने कैसा से दीक्षा दिया तो आपको कैसा दीक्षा हो गया हमने हमारे गुरु महाराज ने दीक्षा दिया है हाँ। कोई घट की दीक्षा है सच्ची दीक्षा नहीं है विकास की दीक्षा है सच्ची दीक्षा है घट की दीक्षा एकांतिक दीक्षा है अनेकांति है हम्म। हमने अनेकांत दीक्षा दिया है और जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता दीक्षा तो बात की बात चरित्र बात की बात और वो नमस्कार मंत्र है नौकार मंत्र है हाँ। तो एक एक आचार्य हमारे बोलता था ये नौकार मंत्र हम कितने आदमी को देता है कुछ फलित क्यों नहीं होता है हम्म। मैंने बोल दिया तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारे की समझ नहीं होगी तो फलित क्यों नहीं डॉक्टर डॉक्टर अच्छी तरह दवा देने वाला है और दर्दी अच्छा है फिर आज दर्दी को आराम होना चाहिए हम्म। तो बोल दिया मैंने मैंने दवा भी अच्छी दिया है दर्दी भी अच्छे क्यों नहीं होता है मैंने बोल दिया कि नौकार नमस्कार मंत्र कैसा बोलता है आप बता दो हमको हम्म। तो ये बोलने लगा हाँ। कि नमो अभिषंतारण नमो सिद्धारण तो मैंने बोल दिया कि नमो सिद्धारण बरोबर है नमो आयरियान बरोबर है नमो बुद्धायण बरोबर नमो लोहे सर्वथा बरोबर नमो हरिहंतारण किसको बोलता है कई बार तो बोलने लगा स्वाई शिष्य तो को आप विचार करके बोलो स्वामी शिष्य तो, तो सिद्ध हो गया हम्म, अरिहंत आनंद नहीं है कैसा बोल रहे हैं मेरी बहुत बड़ी भूल होती है पहले से भूल रही આખા માર્ગ ઉપર એ ભૂલ ચલ રહી હતી नहीं होता है तो फिर हमने बोलने लगा कि क्या हमारे करने का तो मैंने बताया कि श्रीमद स्वामी का अरिहंत मान को इसलिए अभी अभी है अभी है समिंदर स्वामी किधर भी है मगर है आप समझ रहे प्रत्यक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो ओके सिद्ध हो गया जो तो और सिद्ध को अपने ये बोलना अरिहंत बोलना ये- ये आचार्य को आज भी उपाध्याय बोलना आज चाहिए भी एक नहीं बीस सेकंड हाँ बीस तीर्थंकर तो बिहर मार और और भी ज्यादा हो सकते हैं એ કે છે અત્યારે વીસ તીર્થંકર એક નહીં પણ વીસ તીર્થંકર વિહારમાં છે नहीं वही सिद्ध की बात होती है और हिमंतर स्वामी की बात होती है हाँ हाँ वे भी है अपने ये भूमिका के लिए ये भारत भूमि के लिए हिमंतर स्वामी की बात और है वो सबके लिए बारह है वो हम इनको सबको भलामण करता है कि सिमंदर स्वामी की साल उसका तो कोई बोल नहीं है अच्छा। आपको ठीक लगता है और हम तो हमारा कोई हमारा आश्रम कोई नहीं है हमारे लिए इनकी जगह भी नहीं है कोई क्योंकि हमें आश्रम रखने वाला आदमी आपकी नहीं है हमारी भी नहीं है કે આપકી નહીં અમારી બી નહીં है તમારો નથી ને અમારો નથી नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं नहीं हमारा भी कुछ भी सब लोग नहीं नहीं सब लोग बोलता था हाँ। कि आपके लिए आप कुछ मोटा बड़ा आश्रम बनाएं। नहीं, मेरे को आश्रम आश्रम की जरूर नहीं वो आश्रम में सब लोग आएगा फिर विश्राम करेगा वहाँ क्या करेगा सब अभी आज निगम काल है ना निगम काल में आश्रम में विश्राम करता है हाँ खड़ू सब लोग नहीं पर मगर कितना लोग तो ऐसे ही करता है आपके समझ में था એટલે આમ તો એ મંગતા નહીં આમ તો એક ઝાડ નીચે બેઠો સત્સંગ કરો फिर हमको एक संकेत हुआ हाँ। कि सिमंदर स्वामी का दर्शन मंदिर बनाओ हम्म। और इनके साथ कृष्ण भगवान का मंदिर वासुदेव हम्म। जो का पुरुष है हम्म। इसका एक मंदिर बनाओ और इनके साथ नमः शिवाय का मंदिर बनाओ हम्म, इतना ऐसा संकेत संकेत हमको मिला है अच्छा तो इसलिए तैयारी हो गई ये तीनों रखे हैं आपने ठीक है मंत्र में भी तीनों रखे એટલે हैं મ- आपने મંત્રમાં પણ ત્રણેય છે हाँ श्रीमंत्र के क्योंकि वो आचार्य विरज मेरी मेरे साथ आया